तुम फरमाओ आओ मैं तुम्हें पढ़ सुनाऊं जो तुम पर तुम्हारे रब ने हराम किया ये कि उसका कोई शरीक न करो और माँ बाप के साथ भलाई और अपनी औलाद कत्ल न करो मुफलिसी के बायस हम तुम्हें और उन्हें सबको रिस्क देंगे और बेहयाइयों के पास न जाओ जो इनमें खुली हैं और जो छुपी और जिस जान की अल्लाह ने हुरमत रखी उसे ना हक न मारो تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو